यहां जो प्रणव ध्वनि करते हैं ओम बोलते हैं तो बहुत लंबा नहीं करते हैं आप लोग मेरा सुनिए और उतनी ही देर में आप लोग भी समाप्त कर दीजिए जो धर्म शिक्षक हैं उनके जैसे सामान्यतः बहुत लंबा बोलते हैं तो यहां जो तीन बार ओम बोलते हैं पूरी शक्ति जितना अंत तक नहीं बोलते थोड़ी देर बोलते हैं रुकते हैं फिर आगे कर लेते हैं वो आप एक दो बार देखेंगे फिर आगे से आप भी जैसे ये अन्य सब करते हैं उतना ही आप लोग कीजिएगा प्रणाम ध्वनि ओ जिज्ञासा समाधान में प्रश्न है वृक्षों में आत्मा होती है या नहीं होती है इस प्रश्न को दूसरे शब्दों में रखें तो वृक्ष चेतन होते हैं या नहीं होते हैं और शब्द बदल के कहूं तो वृक्ष सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं आत्मा के होने या न होने का लक्षण क्या है उस लक्षण को अगर हम जान लेंगे और वो लक्षण जहां भी मिलते हैं वहां हम कह सकते हैं कि यहां आत्मा है सजीव और निर्जीव का जो लक्षण जान लिया तो जहां जहां घटता है वहां वहां हम कह सकते हैं कि यहां जीव है ये सजीव है तो हमारे शास्त्रों में आत्मा को जानने के लिए छह लक्षण दिए सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न और ज्ञान और भी जोड़ सकते हैं इसमें लेकिन ये मुख्य छह लक्षण हैं इनको देख करके आत्मा का अनुमान हो जाता है कि यहां आत्मा है और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जो आहार लेते हैं भोजन लेते हैं और भोजन को लेकर के जो विकसित होते हैं बढ़ते हैं विकास को प्राप्त होते हैं और इस प्रक्रिया में विकास की प्रक्रिया में बढ़ने की प्रक्रिया में भोजन का वो पाचन भी करते हैं भोजन के पाचन का मतलब है जो चीज बाहर से ली है उसको इस रूप में बदल देना कि उनके शरीर के भाग बन सके दीवार पर भी मिट्टी या सीमेंट या प्लास्टर चिपक सकता है जुड़ सकता है और जुड़ने से वो बड़ी बड़ी हो सकती है जैसे मकान बनते हैं बड़े बड़े बन जाते हैं ये भी बाहर से कोई चीज लेते हैं अथवा कोई ऐसी वस्तु हो जो पानी में गई तो पानी को सोख करके फूल गई जैसे साबुदाना हुआ अथवा चने भी हुए अथवा तुलसी के बीज हैं इसब गोल है ऐसी बहुत सी चीजें पानी में डालने से फूलती हैं तो इन्होंने भी बाहर से कुछ लिया और बढ़ गए तो क्या बाहर से लेने वाला ये भोजन मान करके जो बढ़ा है उसको सजीव मान लें तो वहां पर फिर क्या समझा जाता है बढ़ते तो हैं लेकिन बाहर से जो चीज ली गई है वो जू की तो नहीं रखते हैं वो उसको विभिन्न रूपों में बदलते हैं और ये विभिन्न रूप में बदलना ही पाचन की क्रिया है हमने रोटी खाई चावल खाया दाल ली वो जू की तू शरीर में जाकर इकट्ठी नहीं होती है पचती है उसका विघटन होता है सरलीकृत होती है फिर उसका अवशोषण होता है और उससे फिर नई नई चीजें बनती हैं हड्डी भी बनेगी मांस भी बनेगा सब कुछ बनेगा हमने भोजन में तो मांस नहीं खाया था हड्डी नहीं खाई थी हमने खाया कुछ था और अंदर जाकर के ये जो चीजें बन गई नखून भी बन रहा है इसे कहते हैं पचन तो जो भोजन को लेते हैं और लेकर के उसमें परिवर्तन यानी पाचन करके और उसको अपने शरीर के आवश्यकता के अनुरूप बनाते हैं फिर इस प्रक्रिया में जो मल उत्पन्न होता है उस मल को वो निकालते हैं उत्सर्जन करते हैं उसका चाहे वो वायु के रूप में हो कार्बन डाइऑक्साइड हो या मलमूत्र हो पसीना हो किसी भी तरह मूत्र में यूरिया यूरिक एसिड और अन्य क्षार जो भी अपशिष्ट द्रव्य है मल के रूप में निकलते हैं ऐसे वो मल भी निकालता है शोधन करता है और जो स्वसमान शरीरों की उत्पत्ति भी करता है संतान उत्पत्ति करता है बड़े प्राणी हैं तो वो अपने जैसी अपनी प्रजाति की संतानों को पैदा करते हैं वृक्ष हैं तो बीज करते हैं बीज से फिर वृक्ष पैदा हो जाता है सूक्ष्म जीव हैं तो वो उनमें केवल कोशिका का विभाजन होता है एक से दो कोशिका बन गई तो दोनों अलग अलग जीव बन गए तो जहां से टुकड़ा हुआ वहीं से बाकी का बढ़ गया ऐसे उनमें कई प्रकार हैं तो जो ऐसे संतानों की उत्पत्ति भी करता हो तो आधुनिक दृष्टि से ये सारे लक्षण पेड़ पौधों में वनस्पतियों में घटते हैं वो जिस पानी को लेते हैं मिट्टी से क्षार लेते हैं नाइट्रेट्स लेते हैं सूर्य के प्रकाश में हरित लवक बनाते हैं क्लोरोफिल बनाते हैं फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया चलती है और उससे जो भी बनता है और फिर उसके पत्ते बन जाते हैं तने बनते हैं फल बन जाता है पुष्प बन जाता है ये जो सारी चीजें बन रही हैं ऐसी की ऐसी उन्होंने बाहर से संग्रहित नहीं की थी बाहर से जू का तू लेके और अपना स्वरूप बढ़ा लिया हो ऐसा नहीं था उन्होंने कुछ भिन्न चीज ली थी उसका पाचन किया परिवर्तन किया और फिर अपने रूप में वो बन गए तो ये लेते हैं पचन करते हैं बढ़ते हैं मल भी निष्कासन करते हैं और अपनी प्रजाति की संतानोत्पत्ति भी करते हैं आगे संतति चलती है उनकी इस दृष्टि से वृक्षों में जीव है वृक्ष सजीव है और जो दार्शनिक लक्षण है सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान इन वृक्षों में भी प्रयत्न देखा जाता है कुछ पौधों में हमें बड़ा स्पष्ट होता है जैसे कि छुई मुई का पौधा उसको छूते हैं तो संकुचित होता है और बहुत से पौधे होते हैं जो कीड़ों मकोड़ों को बढ़ करके पकड़ते हैं बंद कर लेते हैं समुद्र में भी होते हैं और भूमि पे भी होते हैं संवेदनाएं होती हैं उनको और वैज्ञानिकों ने भी नए अनुसंधान कर रखे हैं जिससे पता लगता है कि पेड़ पौधों में संवेदनाएं हैं और हमारे शास्त्रीय दृष्टि से मनुस्मृति का एक श्लोक मिलता है अंत संज्ञा भवंते सुख दुख समन्विता एते ये वृक्ष स्थावर अंत संजय होते हैं अंदर से इनको संज्ञा ज्ञान बोध होता है हमें कैसी संज्ञा होती है अंदर और बाहर दोनों अंदर तो हम सुख दुख अनुभव करते हैं लेकिन कोई हमारे पिंच बोए और करे तो बाहर भी हमारे चेहरे पे दुख पीड़ा हाँ, पैर का हटना करना ये सारी क्रियाएं होती हैं हमारे में यानी बाहर से भी प्रतीति होती है लेकिन पेड़ को यदि कोई काटता है डाली तोड़ता है तो बाहर से उसके कोई संवेदनाएं प्रकट नहीं होती है तो बही संजय तो होते नहीं है वो बाहर से तो उनकी संवेदनाएं दिखाई नहीं देती कि वो ये दुखी हो गया ये क्रोधित हो गया ये प्रसन्न है जैसे हमारे चेहरे से पता लगता है हाव भाव से पता लगता है हमारी हाथ पैरों की गतिविधि शरीर इन सब से पता लगता है किसी के पेट में दर्द है चेहरे में दुखा हुआ रहा है और वो लोटपोट हो रहा है यूं सिकुड़ रहा है बिल्कुल तड़प रहा है इतना तेज दर्द हो रहा है तो उसके तड़पते हुए देख करके पता लग जाता है इसको दुख हो रहा है बाहर से पता लग रहा है हमारे को तो ये वृक्ष वनस्पति बही संजय तो नहीं होते लेकिन अंत संजय होते हैं अंदर इनको सुख दुख की अनुभूति होती है तो चूंकि इनमें सुख दुख की अनुभूति होती है ज्ञानेन्द्रियां इनकी वैसी सक्रिय नहीं है जैसी हमारी है इसलिए हमें शंका होती है कि ये सजीव है या निर्जीव है अंत संजय होते हैं सुख दुख की अनुभूति करते हैं प्रयत्न करते हैं और इनमें ज्ञान होता है सूक्ष्म रूप से इसलिए ये सजीव है वृक्षों में जीव होता है ठीक है संक्षेप से तो ये मैंने आपके सामने बात रखी इस प्रश्न पे आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछे पूछिए राजकुमार जी बैठे बैठे बैठे जैसे कुछ पेड़ ऐसे होते हैं काट देते हैं सब कुछ समाप्त हो कुछ ऐसे होते हैं काटने पर वो दोबारा होता है तो काटने से क्या संबंध आपका ये इससे संबंधित अगला प्रश्न है कि कुछ पेड़ पौधे एक बार काट देते हैं तो फिर नहीं उगते हैं कुछ होते हैं दोबारे उगाते हैं तो दोबारे आए तिबारे आए उगते रहते हैं कई तो बार बार ये जो बार बार उगते हैं उनकी जड़ तो विद्यमान रहती है वहां पर मूल रहता है उनका इसलिए वो फिर आ, आ जाते हैं फिर अंकुरण हो जाता है छिपकली की पूछ कटती है फिर आ जाती है बढ़ जाती है वहां भी एक देखने में आता है हमारे को और भी प्राणियों में होता होगा पेड़ पौधों में ऐसा होता है लेकिन आप जड़ी अगर हटा दो तब तो दोबारा नहीं आएगा वो हाँ कुछ की डालियां होती हैं डालियों से अंकुरण हो जाता है गिलोय है गुलाब है गन्ना है इनका तो प्रजनन ही ऐसे ही होता है क्योंकि इनके बीज ही नहीं बनते हैं इनके बीज बनने बंद हो गए गुलाब के बीज नहीं बनते कि बीज से गुलाब पैदा नहीं होता है क्योंकि बीज ही बनने बंद हो गए ये तो डाली डाल देते हैं उसमें से हो जाता है तो ऐसे जो बनते हैं ये पौधे जो नया पौधा है उसमें एक नई आत्मा मानेंगे जो पहले का पौधा है और फिर अंकुरित हो रहा है दोबारा फूट रहा है उसको नई आत्मा नहीं मानते वो तो वही है चल रहा है उसका शरीर फिर से वापस हो गया है वो जीवित था मरा नहीं था ऐसा इसमें माना जाता है

उसमें दो तरह की आत्माएं स्वीकार की गई हैं एक कहलाती है स्वाभिमानी आत्मा स्वाभिमानी आत्मा और दूसरी है अनुशयी आत्मा स्वाभिमानी आत्मा और अनुशयी आत्मा स्वाभिमानी आत्मा वो होती है जिस आत्मा के लिए वो शरीर मिला होता है जिस आत्मा के भोग के लिए या कर्म के लिए वो शरीर मिला होता है वो शरीर उसका भोगायतन होता है वो आत्मा स्वाभिमानी आत्मा कहलाती है जिस आत्मा के कर्मफल के लिए कर्मफल भोग के लिए वो विशेष शरीर मिला होता है वो आत्मा कहलाती है स्वाभिमानी आत्मा <clears throat> आपका जो प्रश्न है वो स्वाभिमानी आत्मा के लिए है कि एक पौधा पैदा होने वाला है तो जिस एक आत्मा वहां पर होगी जिसका वो शरीर है पौधा वो आत्मा वहां कब आती है पहले से रहती है या बाद में कब आती है एक दूसरी आत्मा मैंने बताई दूसरी आत्माएं उनको कहते हैं अनुशयी आत्माएं अनुशयी आत्माओं का मतलब है ऐसी आत्माएं जो साथ साथ में रह रही होती हैं वो जिस शरीर में वो रह रही होती हैं वो उनका भोगायतन नहीं होता उस शरीर से वो कोई सुख दुख भोग नहीं कर सकती उस शरीर से वो कोई नया कर्म नहीं कर सकती ऐसी आत्माएं जहां रहती हैं उन शरीरों को उन शरीरों में उसकी स्वाभिमानी आत्मा अलग होती है और ये अनुशयी आत्माएं भी होती हैं अब मैं आपके प्रश्न के उत्तर पे आता हूं कि बीजों में आत्मा पहले से रहती है या कब आती है बीजों में स्वाभिमानी आत्मा तब आती है जब वहां जीवन प्रारंभ होता है <clears throat> उस आत्मा के आने पर ही वहां पर जीवन प्रारंभ होता है जिस आत्मा का भोग वहां पर होता है वो तब से मानना पड़ेगा जब से वो शरीर एक शरीर के रूप में कथन किया जाएगा बीज को एक नया पौधा कब आप स्वीकार करेंगे जब से उसमें अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है अंदर से भी शुरुआत हुई है फिर अंकुरण निकलता है जड़ जाती है ऊपर पत्ती निकलती है और पौधा बढ़ता जाता है ठीक है ये जब से प्रारंभ हुआ है अंकुरण की प्रक्रिया अंदर से बाहर से भले ही नहीं दिख रही हो अंदर से जब से अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तब से वो आत्मा वहां पर स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वो उसका शरीर प्रारंभ हो गया है आत्मा तब से वहां पर मानी जाएगी स्वाभिमानी आत्मा लेकिन दूसरी जो मैं अनुशयी आत्मा की बात कर रहा हूं वो किसी बीज में तब भी रह सकती है जबकि उसका अंकुरण प्रारंभ न हुआ जिन आत्माओं का अभी नियत शरीर उपयुक्त शरीर नहीं मिला है पिछला शरीर छूट चुका है लेकिन नया शरीर अभी नहीं मिला है ऐसी आत्माएं भी बीजों में रह सकती हैं एक नहीं अनेक रह सकती हैं लेकिन जब अंकुरण प्रारंभ होगा तब उनमें से कोई आत्मा या उनसे भिन्न कोई आत्मा ईश्वरीय व्यवस्था से जो भी आत्मा वहां आएगी जिसका कि वो शरीर होगा भोगायतन होगा वो आत्मा अंकुरण के समय आएगी और वो कहलाएगी स्वाभिमानी आत्मा और उससे भिन्न जो आत्माएं हैं वो अंकुरण से पहले भी रहो चाहे अंकुरण के बाद में भी उसमें बैठी भी रहो वो आत्माएं वहां रहते हुए भी स्वाभिमानी आत्मा नहीं कहलाती वो अनुशयी आत्माएं कहलाती हैं ठीक है तो आपका प्रश्न तो स्वाभिमानी आत्मा के संदर्भ में था तो आत्मा अंकुरण के समय आती है जो अंकुरण से पहले रहती है वो स्वाभिमानी आत्मा नहीं होती है वो अनुशयी आत्माएं कहलाती हैं ये प्रश्न का उत्तर है अगला प्रश्न परमेश्वर हमारी रक्षा करता है परमेश्वर हमारी रक्षा करता है या नहीं करता है मैं कुछ रक्षाएं बताऊंगा लेकिन प्रश्नकर्ता पूछेंगे कि नहीं ये नहीं मैं इस तरह की रक्षा की बात कर रहा हूं अभी तो स्पष्ट नहीं है परमात्मा ने वायु बनाई वायु से हमारी रक्षा हो रही है तो परमात्मा हमारी रक्षा करता है या नहीं करता है हा या ना करता है ऐसे ही सूर्य जल पृथ्वी पृथ्वी का घूमना दिन और रात का बनना विभिन्न मौसम का आना ये वृक्ष वनस्पतियां फल फूल उत्पन्न होना पशु पक्षियों का होना गायों का दूध होना रक्षा कर रहा है हमारी और ये जो शरीर है हमें लगता है हम अपने शरीर की रक्षा स्वयं कर रहे हैं एक अंश में करते हैं विषधर प्राणियों से कांटे से और से चोट से इनसे हम अपनी रक्षा करते हैं लेकिन बाकी बाकी समय में जो ये सारा पाचन हो रहा है रक्त घूम रहा है हृदय धड़क रहा है ये कैसे हो रहा है हमें लगता है हम कांटे से अपनी रक्षा स्वयं कर रहे हैं ठीक है एक दृष्टि से हम कर भी रहे हैं हम देख रहे हैं और हम कर रहे हैं हम बच रहे हैं लेकिन देख कैसे रहे हम ये देखने में कौन सहायक है ये आंखें किसने बना दी और आंख भी बना दी और मस्तिष्क ना होता तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम नहीं होता तो कैसे देखते प्रकाश नहीं होता तो कैसे देखते तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं भी ईश्वर ने कर रखी हैं तो ईश्वर रक्षा करता है करता है या नहीं करता है आपका ही प्रश्न है पर आप कहोगे कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया अभी आ गया तो आपका प्रश्न रक्षा का अलग था कैसी रक्षा करता है ऐसी रक्षा तो मानते हैं ना इतने अंश में तो उत्तर आ गया कि परमात्मा हमारी रक्षा करता है लेकिन इनका प्रश्न कैसा है जैसा उन्होंने बताया कथा का नाम हम जा रहे हैं और पुल टूटने वाला है बाढ़ आ रही है पानी बरस गया है तो या तो बस स्टैंड से ही हमारी बस छूट जाएगी ठीक है निकल गई क्योंकि मेरी तो रक्षा करनी थी इसलिए परमात्मा ने मेरी बस छुड़वा दी अथवा उस पुलिया से पहले कोई जगह आई थी जहां मैं कुछ फलवल लेने उतर गया या कुछ पानी पीने उतर गया और मेरे को ध्यान नहीं रहा और किसी ने किनारे बस चल दी मैं चिल्ला रहा हूं कि देखो रोको रोको रोको लेकिन बस तो चली गई बाद में पता लगा वो जाके टक्कर हो गई वो तो पुलिया टूट गई बह गई तो क्यों चली गई थी बस क्योंकि परमात्मा ने मेरी रक्षा की ऐसी ऐसी बहुत सी घटनाएं और जो मर गए उनकी परमात्मा ने रक्षा नहीं की ऐसे ही ना इनका प्रश्न वहां पर है तो बताइए अब बताइए कि क्या परमात्मा इस तरह की रक्षाएं करता है ये पूछना चाहते हैं तो परमात्मा इस तरह से रक्षा नहीं करता है हम नीचे कोई चीज पड़ी है गड्ढा है और हम जा रहे हैं और हमें पता नहीं है कांटा है उस पर पैर रख दिया अब अगर रक्षा करनी होगी तो परमात्मा हमारा पैर वहां से हटा देगा या कांटे को हटा देगा क्या करेगा हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं परमात्मा ने हमें स्वतंत्र कर रखा है तो ये गतिविधियां तो हमारी होती हैं मेरे पास खाने को नहीं है तो परमात्मा रक्षा के लिए मेरे को आकर के रोटी बना दे दे दे पहुंचवा दे ऐसे परमात्मा नहीं करता है परमात्मा की रक्षा ऐसी नहीं होती है जिन क्षेत्रों में परमात्मा ने जीवों को कर्म करने के लिए छोड़ रखा है और स्वतंत्र कर रखा है वहां जीव आपस में एक दूसरे से ऐसे रक्षाएं होती हैं लेकिन परमात्मा ऐसे रक्षा नहीं करता है यदि परमात्मा इस तरह रक्षा करता हो तो परमात्मा किसकी रक्षा करेगा ये भी प्रश्न उठेगा ना किसकी रक्षा करेगा परमात्मा है भक्तों की और जो भक्त नहीं है उनकी रक्षा नहीं करेगा किसकी परमात्मा के लिए तो सब आज जीवात्माएं समान है नहीं यह परमात्मा पक्षपाती है उसके लिए सब आत्माएं समान है अब मैं जंगल में गया वहां शेर आ गया अब परमात्मा किसकी रक्षा करेगा मेरी या शेर की अगर शेर को खाने देता है तो शेर की रक्षा होती है और मेरी रक्षा करता है अगर शेर से तो शेर भूखा मर जाता है मान लो शेर तड़प रहा है बहुत दिनों से अकेला घूम रहा है इतना खुखार बना हुआ है भूख से परेशान है तड़प रहा है ये व्यक्ति मिले और खाऊं मैं इसको हिरण मिल गया किसकी रक्षा करेगा परमात्मा समुद्र में इतनी मछलियां हैं असंख्य हमारी संख्या के बाहर गणना के बाहर खा रही है एक दूसरी मछलियां एक दूसरे को किसकी रक्षा करेगा परमात्मा और परमात्मा ने ये व्यवस्था कर रखी है तो हम कहेंगे परमात्मा सज्जनों की रक्षा करता है दुर्जनों की रक्षा नहीं करता है लेकिन जैसी जैसी ये घटनाएं कही जाती हैं विचित्र विचित्र की ऐसे परमात्मा ने रक्षा कर दी तो ऐसे बचने वालों में कोई दुष्ट व्यक्ति भी होते होंगे या नहीं होते हैं नहीं दुष्ट भी होते हैं डाकू डाका डालने गया पकड़ लिया रास्ते में वो पुलिस वाला आ गया देखा कि तो पकड़ गए आज उतने में कोई दूसरी गाड़ी आ गई और उसकी वो देखभाल करने लगे पूछताछ करने लगे वो बगल से निकल के चल गया ओहो आज तो ईश्वर ने बचा लिया या काली माँ ने बचा लिया दुर्गा ने बचा लिया जिसने भी बचा लिया बड़ी कृपा है अथवा बस जा रही है टक्कर लग गई अब टक्कर लग गई सब तो नहीं मरते कोई मरेगा किसी के हड्डी टूटेगी किसी के खरोच आएगी किसी के खून लगेगा कोई बेहोश होगा और कोई कोई सही सलामत रहेगा खरोच तक नहीं आएगी या थोड़ी सी आ जाएगी तो भाई आज तो भगवान ने बचा लिया हम प्राय ऐसा मुंह से बोलते हैं टक्कर लगती है तो वहां भौतिकी के कुछ नियम होते हैं किससे टक्कर लगी कहां से लगी किस वेग से लगी कौन कहां बैठा था उसके आधार पर भी प्रभाव पड़ता है और सामान्यतया जनता क्या कहती है जो बच गया हमारे भगवान ने बचा लिया और जो मर गया उसको किसने मारा वो तो टक्कर से मारा है भगवान ने थोड़ा मारा है उसको कि भगवान को कैसे कह दें हम कि भगवान मारने वाला है हम तो भगवान के भक्त हैं भगवान के लिए ऐसा कह सकते क्या भगवान ने मार दिया ऐसा बोलेंगे नहीं मन में भले ही सोच लें कि हाँ इनके जरूर पाप कर्म होंगे इनको भगवान ने मार दिया ये जो कुछ बाहर की घटनाएं होती है प्राकृतिक दुर्घटना असावधानी से ये विभिन्न कारणों से होती रहती है तो इन जगहों पर भी जो बचने की बात है परमात्मा सीधे सीधे ऐसे नहीं बचाते जिस तरह से बहुत कुछ कहा जाता है घटनाएं कही जाती हैं परमात्मा ऐसे नहीं बचाता हाथ पकड़ करके नहीं बचाता उसके बचाने के तरीके दूसरे हैं कुछ उन ढंगों से बचा सकता है ठीक है धर्म शिक्षकों में से इस विषय में कोई और पूछना हो जो अभी प्रश्न चल रहा है इसमें से तो उस प्रश्न में पूछ सकते हैं आप तो निसंकोच होकर हाथ खड़ा करके कोई पूरक प्रश्न हो तो अगला प्रश्न आत्मा अपने शरीर के अंगों का संचालन कैसे करता है आत्मा अपने शरीर के अंगों का संचालन कैसे करता है हाथ पैर का हम संचालन करते हैं चलते हैं जाते हैं उठते हैं बैठते हैं सोते हैं तो इसके लिए दर्शनों में जो प्रक्रिया बताई स्वीकार्य है महर्षि जी ने भी बताई आत्मा मन को प्रेरणा करता है मन इंद्रिय को प्रेरणा करती है और इंद्रिय में फिर गति होती है मैंने इच्छा की कि मैं बोलूं मैंने इच्छा की कि मैं देखूं मैंने इच्छा की कि अब रोटी की बजाय चावल खाऊं सब्जी की बजाय दाल खाऊं इच्छा की आत्मा की इच्छा उससे मन ने फिर इंद्रिय को प्रेरणा दी हाथ वहां पर गया सब्जी के पास में और ले करके खा ली जहां देखना था वहां देख लिया जो बोलना था वो बोल दिया तो आत्मा मन और इंद्रिय मन के माध्यम से आत्मा कार्य करता है अपने अंगों का संचालन करता है आत्मा इच्छा करता है और प्रयत्न अथवा अनिच्छा करता है जिसको द्वेष कहते हैं कि वहां से मेरे को रात हाथ हटाना है गरम गरम चीज पकड़ ली तो एकदम हाथ हटाएंगे हम अथवा और कोई चीज लग रहा है कि यहाँ ठीक नहीं है यहाँ कष्ट हो रहा है तो उठ करके वहां जाएंगे यहां से हटेंगे जो भी कुछ करेंगे पाने के लिए या छोड़ने के लिए उस सब में हमारे इच्छा अनिच्छा फिर मन और फिर तदनुरूप इंद्रियों की चेष्टा होती है इसमें कुछ पूछना है जैसे मन जाए, तो उसमें का कैसे है इनका प्रश्न है कि मन तो जड़ है उसमें चेतनता कहां से आ जाती है तो मैंने जो बोला उसमें ऐसा तो नहीं कहा कि मन में चेतनता आती है आप प्रश्न फिर ऐसे भी बढ़ा सकते हो कि इंद्रियां भी जड़ है उसमें चेतनता कहां से आ जाती है ऐसा इसमें हमें चेतनता दिखती है किसमें चेतनता दिख रही है चेतन प्रभाव का प्रयोग है तो इसमें तो चेतन का आत्मा का हम्म। इसमें सीधी सीधी चेतनता नहीं है लेकिन हम कहते हैं कि ये सजीव है जड़ है कुछ दिन पूर्व यहाँ एक चर्चा चली थी ऐसा ही प्रश्न माता जी ने किया था कि ये चेतन है ये शरीर भी चेतन जैसा लगता है इसलिए आपका प्रश्न देखिए चेतनता तो आत्मा में ही रहती है लेकिन इनमें क्रियाएं होती हैं और आत्मा तक संवेदनाएं पहुंचती हैं यहां चूंकि हमें स्पर्श का पता लगता है सुख दुख का पता लगता है ठीक है इसलिए हमें लगता है कि ये चेतन है ये चेतन नहीं है शरीर तो जड़ ही है मन भी जड़ है लेकिन वो चेतन के समान प्रतीत होता है अब कठपुतली चलाने वाला कठपुतली चला रहा है तो जो कठपुतली में गतिविधियां हो रही हैं तो उसको कहेंगे कि ये चेतन है नहीं कहेंगे क्यों वो भी तो तलवार निकाल लेते हैं पानी लाते हैं करते हैं नाचते हैं कूदते हैं सब कुछ होता है ना वहां पर क्यों नहीं कहते क्योंकि वहां गति करवाने वाला कोई और है ऐसे ही शरीर में गति करवाने वाला कोई और ये शरीर अपने आप गति नहीं करता मरने के बाद में ये भी पड़ा रहता है और मन भी जड़ है मन में अपने आप इच्छा से गतियां नहीं होती हैं मन का अपना कोई प्रयोजन भी नहीं है वो स्वयं के लिए कोई क्रिया नहीं करता शरीर भी अपने लिए कुछ नहीं करता किसी और के लिए करता है तो यहां जो हमें कुछ संवेदनाएं दिखाई देती हैं ये आत्मा की उपस्थिति में शरीर की रचना के कारण से तंत्रिका तंत्र की संवेदना के कारण से ऐसा प्रतीत होता है वहां आत्मा की चेतनता निकल के यहां तक आ जाती है फैल जाती है ऐसा नहीं ये तो जड़ ही है शरीर तो जड़ ही है बहुत सारे कार्य हम करते हैं हमारे हाथ में लेखनी होती है तो वो चलने लगती है अब कोई कहने लगे लेखनी आप आगे पीछे उठ रही है लिखती चली जा रही है ये तो लेखनी तो जड़ है ये ऐसे कैसे कर रही है ये कर लेती है क्योंकि हमारे हाथ में है तो पीछे पीछे पीछे जाएंगे शरीर के पीछे मन इंद्रिया इंद्रिय के पीछे मन मन के पीछे आत्मा वो चेतन आत्मा बैठा है इसलिए यहां पर ऐसी गतिविधियां दिखाई देती हैं नहीं तो ये जड़ ही है इस प्रश्न पर और कुछ का योगदान है हाँ जी जी प्राण शरीर में क्रिया कराने वाले तत्व को बोलते हैं उसको वायु वायु के भेद इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है वो क्रियाएं हैं शक्ति है ऐसी जिसके माध्यम से होता है लेकिन वो प्राण आत्मा से भिन्न है आत्मा से भिन्न है वो अलग चीज है अगला प्रश्न है आत्मा शरीर में कब प्रवेश करती है जीवों के संदर्भ में तो चर्चा करेंगे लेकिन पौधे के विषय में पहले बात हुई बीज में कब आती है बिल्कुल यही की यही बात हम प्राणियों के लिए भी लगा सकते हैं आपका प्रश्न मुख्य रूप से मनुष्यों के लिए जब से मनुष्य का जीवन प्रारंभ होता है कब से इसको मानेंगे हम अपनी आयु तो तब मानते हैं जब से हमारा जन्म हुआ है तो कुछ लोग कहते हैं कि जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो ये तो आपको स्वीकार नहीं हो रहा है क्यों क्यों है जी धड़कन चलना शुरू हो गई है यानी गर्भ में जब हम होते हैं तब भी जीवन होता है क्योंकि जीवन के लक्षण वहां पर घट रहे हैं तो बोले धड़कन तो हृदय कब धड़कना शुरू करता है लगभग तीन महीने दो महीने ढाई महीने थोड़ा बन जाता है होता है तो कुछ लोग कहते हैं कि फिर तभी से मान लो तो उससे पहले के जो दो या तीन महीने थे वो उसको कुछ लोग कहते हैं आठवें नौवे महीने में प्रवेश करती है कुछ लोग कहते हैं दूसरे तीसरे महीने में प्रवेश करती है जब हृदय धड़कना शुरू करता है तो क्या उससे पहले नहीं माने कब से पहले दिन से ये मानव शरीर या अन्य जितने भी प्राणी हैं उनका शरीर पहले एक कोशिका से प्रारंभ होता है सबसे पहले एक कोशिका होती है एक कोशिका का मतलब इतनी छोटी कि हम सामान्यतः आंख से हमें नहीं दिखाई दे नंगी आंखों से दिखाई ना दे ऐसी छोटी सी कोशिका दो आधी कोशिकाएं मिलकर के आधी कोशिका मां से आती है आधी कोशिका पिता से आती है स्त्री पुरुष से वो मिलने के बाद में जब एक कोशिका बनती है तब से ये शरीर का बनना प्रारंभ होता है फिर एक से दो दो से चार चार से आठ आठ से सोलह सोलह से बत्तीस टुकड़े होते जाते हैं विभाजन होता जाता है बनती जाती है बड़ा हो जाता है गोला हो जाता है फिर उसमें प्रवर्धन निकलने लगते हैं पूछ आ जाती है हाथ पैर आ जाते हैं ये सब चीजें बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है तो जिस समय में समूर्छन हुआ फर्टिलाइजेशन हुआ पहली कोशिका बनी तब से इस शरीर की स्थिति हमने माननी चाहिए जैसे कि बीज के संदर्भ में मैं बोल रहा था और ये वो समय है जब वो स्वाभिमानी आत्मा कोई उस शरीर की स्वीकार की जाएगी बिना आत्मा के शरीर नहीं हो सकता बिना आत्मा के हम शरीर नहीं कह सकते उसको किसी का तो जब से प्रारंभ होता है ये शरीर पहली कोशिका से तब से आत्मा वहां पर विद्यमान मानी जानी चाहिए ठीक है तो आत्मा शरीर में कब प्रवेश करती है जब से शरीर प्रारंभ होता है शरीर जब से हम इसको कहते हैं तभी से आत्मा वहां पर विद्यमान होती है वो शरीर कहलाता ही तब है जब उसमें आत्मा होती है ये विभिन्न मान्यताएं उसमें जो मेरी समझ बनी है वो ये आपके सामने रखी ठीक है बोलिए जो होता है उसमें भी जो जीव होता है वो तो ये अभी तय नहीं है, ये है नहीं तय इनका कहना है कि शुक्राणु में भी तो जीव होता तो तो है एक क्रिया तो होती है ठीक है ये तो ठीक है क्रिया होती है लेकिन उसको हम सजीव माने या ना माने तो ये एक प्रश्न है मतलब नहीं जीव के लक्षण क्या जीव का लक्षण क्या मनुष्य शरीर में छियालीस क्रोमोचोम होते हैं प्रत्येक कोशिका में छियालीस होते हैं स्पर्म में शुक्राणु में तेईस क्रोमोजोम होते हैं डिम्बाणु में स्त्री बीज में ओवम में तेईस क्रोमोजोम होते हैं ठीक है बाईस बाईस भिन्न होते हैं और तेईसवां जो होता है वो एक्स या वाई होता है जो कि लिंग का निर्धारण करता है क्रोमोजोम का होना एक शरीर को द्योतित नहीं करता क्योंकि उसे मानव शरीर या आत्मा जीवन कह ही नहीं सकते हो तो आधे क्रोमोजोम है उसमें गति अवश्य होती है उसकी अपनी रचना ऐसी है वो ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी है उसमें हो या ना हो यदि है भी अभ्युपगम से बोल रहा हूं तो उस आत्मा को हम कहेंगे अनुशयी आत्मा स्वाभिमानी आत्मा नहीं कहेंगे पीछे जो मैंने अनुशयी और स्वाभिमानी आत्मा का बात कही स्वाभिमानी आत्मा तब होगी जब वो शरीर बनेगा प्रारंभ होगा और वो कब है जब एक कोशिका बन गई है आदि और आदि मिलके जब एक कोशिका होती है तब हम कहेंगे और उससे पहले की जो स्थिति है उसमें आधी आधी कोशिका है अभी शरीर नहीं है वो पूरा मानव कोशिका की इकाई पहली इकाई एक कोशिका वो भी अभी तक नहीं बनी है शुक्राणु आधी कोशिका है क्योंकि उसमें आधे क्रोमोजोम होते हैं इसलिए उसको स्वाभिमानी आत्मा से युक्त तो नहीं कह सकते अनुशयी हो तो हो वो एक अलग बात है वो हम पता नहीं लगा सकते तो हम नहीं पता लगा सकते हम नहीं पता लगा सकते सक्रिय तो है वो एक अलग बात है वो व्यवस्था है उसकी लेकिन वो जीव के कारण से सक्रिय है ऐसा नहीं कह सकते ठीक हो गया ये प्रश्न हाँ देखिए आप जो बात कह रहे हैं वो प्रसंग वो जस जो मैं अनुशयी और स्वाभिमानी आत्मा की बात कर रहा था वेदांत दर्शन की वेदांत दर्शन चूंकि उपनिषद के प्रसंग में बात करता है तो वहां भी उपनिषद के वो उदाहरण दिए जाते हैं वहां एक प्रसंग आया कि भाई ये गेहूं आदि जो कूटते हो पीटते हो चावल निकालने के लिए भूसी निकालने के लिए कूटते हो तो उससे हिंसा नहीं होती है क्या उनमें भी तो जीव होता है नहीं कहा से आता है बोले व्यक्ति मरता है तो फिर इधर जाता है श्लोक में आकाश में गया बादल में गया बादल से पानी नीचे बरसा तो उस पानी के साथ नीचे आ गया नीचे आ गया तो जमीन में चला गया फिर पेड़ पौधों में आ गया फिर उसके बीज में आ गया ठीक है और उस बीज को हमने खाया तो हमारे शरीर में चला गया इत्यादि कुछ प्रक्रिया लिखी है तो वेदांत दर्शनकार उसको हिंसा दोष नहीं मानते कि मान लो अन्न कूटते समय वहां जो आत्मा है वो तो अनुशयी आत्मा है ये स्वाभिमानी आत्मा नहीं है पहली बात तो उनको कोई सुख दुख पीड़ा ऐसी नहीं होती कूटने पीटने से स्वाभिमानी आत्मा को होती है हमारी उंगली को हाथ पैरों को कोई कूटे काटे तो हमारे को कष्ट होगा अनुशयी आत्मा को नहीं होता है क्योंकि उसका अभी भोग ही शुरू नहीं हुआ है तो वो आत्माएं चलती हैं वो हमारे शरीर में भी आती हैं उस प्रसंग में आपका है कि भी वो अन्न खाया तो अन्न के साथ हमारे शरीर में चली गई ये हो गई वो हो गई इत्यादि इत्यादि ये जो प्रक्रिया लिखी है लेकिन अगर वो चल रही है ऐसा वर्णन मिलता है तो ये अनुशयी आत्माएं चल रही हैं स्वाभिमानी आत्मा नहीं है अभी तक स्वाभिमानी आत्मा हम तब कहेंगे जब वो नया शरीर होगा कम से कम एक कोशिका पूरी होगी तब हम उसको स्वाभिमानी आत्मा मानेंगे उससे पहले जो आत्मा चल रही है तो उसको स्वाभिमानी नहीं मानेंगे अनुशयी मानेंगे ये बात है ठीक है इतने प्रश्न और आपका प्रश्न था राजकुमार जी का कि आत्मा मन और शरीर में कैसे क्रिया होती है वो आ गया विषय आपका समझ में आ गया इस, इसी के अंतर्गत आ गया पूछिए सूरतराम जी पिता के शरीर में हाँ हम्म। ऐसा है वो कथन मिलता है और बहुत सारे इस विषय में देखिए सीधा निश्चय कारक नहीं है इन सबको ध्यान में रखते हुए जो मेरे समझ में आया कि आत्मा आ भी गई तो जो मैं अभी बोल रहा था तो भी वो अनुशयी आत्मा कहलाएगी स्वाभिमानी आत्मा नहीं स्वाभिमानी आत्मा नहीं ये विषय बड़ा जटिल है और इसमें बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं अभी ठीक है पूरा पूरा ऐसा सीधा समाधान नहीं कर सकते सीधा सीधा कहीं लिखा नहीं है कुछ संकेत हैं उससे अब मान लो अन्न आदि माध्यम से जाती है तो वो तो अन्न तो स्त्री पुरुष दोनों खाते हैं जो वो अन्न वाली प्रक्रिया है उपनिषद में वो केवल पुरुष ही थोड़ा ना खाते हैं स्त्रियां भी खाती हैं सभी में जा सकता है वो पानी से जाती है तो पानी तो सभी पीते हैं कौन सी आत्मा किस शरीर में जाएगी इसका नियंत्रण इसका संचालन परमात्मा के पास में उसे पता है किस आत्मा के कैसे कर्म है और इसको किस शरीर में देना है इसका कौन सा शरीर उपयुक्त है वो परमात्मा वहां पर पहुंचाता है हम नहीं निर्धारित कर सकते हैं आपको हमको नहीं पता हम क्यों आ गए यहाँ पर कब आ गए क्यों हम इसी शरीर में आए क्यों हमने इसी परिवार में जन्म लिया हमें कुछ नहीं पता है हमारा नियंत्रण ही नहीं है और मरने के बाद भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं है कि हम यहाँ से कहा जाएंगे अगला जन्म कहाँ होगा कोई नियंत्रण नहीं है कोई पता नहीं है हमें ये परमात्मा की व्यवस्था से होता है तो जहां नया जीवन प्रारंभ हो रहा है होने की संभावना है वहां कर्मानुसार परमात्मा उस उस आत्मा को भेजता है यहां तक तो हम मान ही सकते हैं इसमें कोई दो राय नहीं हाँ, आगे की प्रक्रिया उससे पहले की प्रक्रिया कि भाई कैसे कैसे होता होगा वो अभी निश्चयात्मक रूप से ऐसे नहीं कही जा सकती ठीक है पूछे इसको ये नया प्रश्न है और कि तत्काल जन्म ले लेता है अथवा दूर दूर से जाता है दोनों बातें हो सकती हैं विस्तार से तो मैं बाद में करूंगा नहीं तो आपने पूछा है आप लिख करके दीजिए मेरे को प्रश्न में और आप विस्तार से बताऊंगा सामान्य उत्तर यह है कि मृत्यु के बाद में आत्मा परमात्मा के वश में होती है वो जहां ले जाना है ले जाएगा यदि उस आत्मा के कर्म के अनुरूप स्थिति है कहीं तो वहां उसको जन्म मिल जाएगा उसी समय लेकिन अगर वैसी स्थिति नहीं है तो उस समय नहीं मिलेगा जब बनेगी स्थिति तब मिल जाएगा जन्म कर्म के अनुसार जहां इस लोक में अन्य लोक में किस शरीर में जाना है वहां जो जाएगा और जब तक वो अनुकूल स्थिति नहीं होती है तब तक रोक के रखेगा प्रतीक्षा करेगा वो अनुशयी आत्माओं की स्थिति बताई है आपको अभी स्वीकार की है तो वो दोनों हो सकते हैं तत्काल भी और विलंब से भी तभी इसको आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं